प्रकार का जो विपर्यास बुद्धिया इनका क्षीण होने पर तुम बलम अष्टुत तब ये ब्रह्मवेत्ता जो लोग हैं साधक मोक्ष हो जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी थे वे अपरोक्ष अनुभूति को प्राप्त कर लेंगे तुरी पद को प्राप्त कर जाते हैं उसको अनुभव कर जाते हैं तो कहते हैं स्वप्न जागृत और अन्यथा जैसे स्वप्न जागृत अन्यथा का ग्रहण व्याख्या करे स्वप्न जागृत यो हो स्वप्न और जागृत दो शब्दों का अर्थ क्या है स्वप्न किसे कहते हैं अन्यथा गृहता स्वप्न उसके अन्यथा का जैसे दृष्टान से समझा रहे अन्यथा की व्याख्या रज्वाम सर्प जैसे रज्वाम गृहमाण सर्प ऐसा अन्यथा गृह थे रज्जु को ग्रहण करते हुए भी वो क्या कर रहा है उसको सर्प रूपेण ग्रहण कर रहा है वे अयम सर्प बोलोगे ना केवल सर्पा नहीं बोलेगा अयम सर्प क्योंकि अयम रूपी अधिष्ठान के बिना सर्प का भ्रांति हो नहीं सकता अयम क्या है वही रज्जु रज्जु का सामान्य स्वरूप अयम इदम शब्द बोध रूपेण ग्रहण कर लिया इसे पूछा ना कहा आएगा अगर वाह हाँ, वाह बोलेगा तो अयम है ना सामान्य ग्रह हो इसे इदम शब्द बोध जो अयम इदम शब्द का रूप जो अयम शब्द प्रयोग कर रहा हूँ वो क्या है अधिष्ठान का सामान्य ग्रहण है अधिष्ठान का सामान्य प्रयोग ग्रहण करते हुए वक्त ही अन्न का ग्रहण कर लिया उसमें विशेष स्वरूप के अन्यथा मैंने दूसरे प्रकार से उसके विशेष स्वरूप को ग्रहण कर अन्यथा का मतलब क्या अन्य प्रकार अन्य अन्यथा या अन्य प्रकार नहीं थी अन्यथा प्रकार तो में था अन्य रूपे नहीं थी अन्यथा अन्य रूप से ग्रहण कर जाना जो जिस रूप से उस रूप से ग्रहण नहीं करना उसके विपरीत रूप से ग्रहण करना उसका नाम अन्यथा इसलिए रज्वान सर्प सर्पम इव करके कई लोग पाठ भेद कर देते गलत है वो तद हाँ? तत्व मनताग्रण योजम है ना नीचे दिया टिप्पण में रज्वाम मार सर्पो यथा अन्यथा दे तद तत्व था योज्यम सर्पम इव पाठ कल्प्य अथवा जैसे रज्जु में सर्प को देखता है ऐसे ही करना चाहो सर्पम ऐसा पाठ भेद बना दृष्टान पक्ष में बन जाता है इस तरह से नहीं तो थोड़ा परिकल्पना करके अनु यथा तद्वत करके घटाना पड़ता है विशेष सर्व तत्तम उसी को तत्व कर रहा है इसी का अंतर उसी को क्या हम कहेंगे स्वप्न करके समझो निद्रा तत्तम निद्रा तत्व क्या है अजानत तिश्रिशु अवस्था सुतुल्य यदि भी जो निद्रा तत्व है न जानते हुए दृष्टिकोण से तीनों अवस्था में बराबर है तत्व का अग्रहण जो है ना जागृत काल में भी है स्वप्न काल में भी है और सुषिप्त इसलिए तीनों अवस्था में तत्व अग्रहण तत्व का न जानना समान स्वप्न तुल्य इसलिए स्वप्न निद्रा में भी वो समान तुल्य होने के नाते विश्व तेजस और एक राशि तम इस विश्व और तेजस दोनों में एक राशि में एक कोटि में लिया जा रहा है दोनों को स्वप्न नाम से कहेंगे अब अब से आगे स्वप्न गाय से विश्व तेजस दोनों ग्रहण कर लेना क्योंकि स्वप्न में भी अन्नदा ग्रहण है निद्रा में भी जागृत में भी अन्नदा ग्रहण है और जागृत में तत्व आग्रहण है स्वप्न में भी तत्व आग्रहण है तो सारी चीजें जो जागृत में स्वप्न में जो स्वप्न हो जागृत में भी दिख रहा है केवल विषय में स्थूल और सूक्ष्म बात अलग है स्थूल को सूक्ष्म होगा है या नहीं तो इसी वजह से कहते हैं दोनों का विषय वेद को ध्यान न दें तो वास्तव में दोनों के दोनों का स्वरूप एक है स्वप्न जागृत भी है स्वप्न तेजस तेजस्वी है तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण जो है तत्व ग्रहण अग्रहण दोनों के दोनों मैंने तत्व अग्रहण पूर्वक अन्यथा ग्रहण स्वप्न में भी है तत्व अग्रहण पूर्वक अन्यथा ग्रहण जागृत में भी है ये इस दृष्टिकोण से कहा जाएगा दोनों को एक राशि में रख करके दोनों को स्वप्न नाम से ही कहेंगे अन्यता ग्रहण प्राधान्य गुणभूता अन्यता ग्रहण प्रधानता है गुणभूता निद्रा इति और गौण क्या है वह निद्रा है इति विपर्यास विपर्यास स्वप्न इस प्रकार से इति तस्मिन तार जागृत और स्वप्न विश्व तेजस में यह एकादशी विपर्यास समान होने से दोनों को एक राशि में लेकर के दोनों का एक नाम व्यवहार करेंगे स्वप्न तृतीय तू स्थान है तृतीय स्थान कौन है सुषुप्त स्थान उसमें तृतीय तत्व अज्ञान लक्षण निद्रैव केवल विपर्यास तत्व अज्ञान रूपा निद्रा ही एकमात्र केवल विपर्यास होता है क्योंकि वहाँ स्वप्न रूपी जो उपसर्जन है वो नहीं है अन्यता ग्रहण वहाँ पर क्या है है नहीं छुपा हुआ है वहाँ भी अन्यता ग्रहण है लेकिन वो अनुभव में नहीं आता निद्रा काल में भी आपका अन्यता ग्रहण रूप क्यों अविद्या रूपी बीज है और बीज में ही अन्यता ग्रहण लीन है इसे मिट्टी के काल में भी घड़ा है घड़ा मिट्टी में लीन है लेकिन उस समय भी घड़ा है इकारा बढ़ेगा नहीं है दुर्गा से आता बाद में वो लेकिन उस समय वो उपसर्जनी भूत होकर ग्रह गौण होकर पहले प्रधान था अन्न का ग्रहण पहले प्रधान था तत्व ग्रहण गौण था और तत्व ग्रहण प्रधान हो गया अन्न का ग्रहण गौण अत उसको न कह देते नहीं है ऐसा कह दिया व्यवहार नीचे टीका में स्पष्ट टिप्पण स्पष्ट है स्वप्नोपसर्जनत्व अभाव केवल केवला इति स्वप्नोपसर्जनत्व को अभाव के समान क्योंकि वहां पर भूत तो होने रहा है इसलिए जो उसको अभाव ही मान करके केवला ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया है एवकार व्याख्यान में वह इसलिए एवकार का ही व्याख्यान है केवला निद्रैव निद्रा एवक जो का है उसी को केवला शब्द से व्याख्या हुआ त्रिपर्यास अत तय कार्य कारण स्थान और अन्नदा ग्रहण लक्षण विपर्यास तो कार्य कारण स्थान यो कार्य कारण मने कार्य कौन होगा एक राशि में जग शब्द इकट्ठा करके स्वप्न कारण का नदी कार्य स्वप्न और प्राण दो स्वप्न और निद्रा बस दो ही नाम से लेंगे यह क्या है अन्य का ग्रहण लक्षण और विपर्यास कार्य कार बंध रूपे इसी को कार्य कार बंधन स्वरूप कहा गया परमार्थ तत्व प्रतिबोधत क्षीणे जब परमार्थ तत्व का प्रतिबोध हो जाता है तो क्या होगा ये दोनों के दोनों क्षीण हो जाएंगे क्षीण होने का मतलब क्या विनाश हो जाएगा ये नहीं अर्थ करना ये बाधित हो जाएगा अगर मिथ्यात्व निश्चय हो जाएगा कार ने कहा चीन मैंने बाहर मिथ्या तो निश्चित सती आवत परमात्म का प्रतिबोध भी कैसे होगा प्रतिबोधता तो कह दिया आचार्योपदेश जन तत्व साक्षात्कार आचार्योपदेश जन जो तत्व साक्षात्कार उससे क्षीण हो जाने पर का मतलब उसे बाहित हो गया अर्ध मिथ्यात्व तो निश्चय हो गया तब तुरियम पदम अष्टुते तथा उभय लक्षण बंद रूपम तथा अपश्यन उसी समय में यह दोनों ही प्रकार का बंद स्वरूप को वह न नित्य देख करके नानुभव करता हुआ तुरीय निश्चित भौतिक करता उस तुरीय अपना स्वरूप में वह निश्चय कर लेता है इसका और जो ये संसारी जीव है वो कैसा है ये तो तत्व बोधे हो ना वो कैसा अनुभव कर लेता कैसा निश्चय वो निश्चित है वो निश्चित कैसे हुआ वो वो पूछा और कब होता है कदा स्पष्ट का जवाब दे दिया नहीं संसारी अनादि माया सुप्त यदा जीव प्रबुद्य अजम अनिद्रम स्वप्रम अद्वैतम दे तदा असली वेदांत में अब पहुंचे पहले ऐसा वर्णन किया क्या है विश्व क्या है तेजस क्या है प्राग क्या है अनेक प्रकार से उसके स्वरूप का वर्णन व्याख्या हो गया परम असलियत में पूछा जा जब ये जीव ये कब नहीं पूछना अनादिकाल से चलता अनादि माया सुप्त असली तत्व में जब हम पहुंचेंगे और आगे तो कहेंगे अनादि क्यों कह रहे हो क्या करो बुद्धि के पास कोई जवाब ही नहीं कब से जब बुद्धि दिवाला हो जाए फैल हो जाए तो जवाब क्या है अनादि है अनंत है ये अनादि अनंत शब्द व्यक्ति की बुद्धि की अक्षमता का द्योतक है अनादि शक्ति और अनंत शक्ति संसार अनंत का तक तो रहेगा क्यों मेरे से पता नहीं प्रलय कब होगा ये पता नहीं होगा तो कैसा होगा पता नहीं होकर कहा जाएगा ये पता नहीं जहाज अगर वहां आएगा कैसे पता नहीं कौन जानेगा पुराणों ने व्याख्यान कर दिया है कुछ उसके आधार पर आप बोल लेते हो इन वास्तव में है क्या ये तो पहले सोचो है तो विचार किया जाए कब से प्रलय होगा तो कहा होगा इसे विचार तब होगा जब जगत हो तो और जगत है ही नहीं फिर ना आज ही ढूंढोगे जब आज ढूंढ ही नहीं सकता हो जिस चीज का है ही नहीं वो उसका आदि हम ढूंढ रहे हैं गलती है और जवाब क्या दे रहे उसका गलती किया और उसने दूसरी गलती किया वो आदि करके जवाब दे इसे ढूंढना ही गलत है ना वहां पर मेहनत स्त्रोत्र में हरी नीचे गए विरिंची उतर गए तो पता लगा ना कि नहीं ये शिव जी कहाँ है इनके आदि और अंत कहाँ है न आदि पाया तो न अंत पाया है या नहीं जिसकी आदि और अंत ही नहीं है उसकी आदि अंत पकड़ने की कोशिश करो और नहीं पकड़ने आया तब दिमाग फैल हो गया तो उसको जवाब देना है ना तो कह दिया अनादि है जवाब बाद में देंगे अभी तो अज्ञानी का दृष्टि कौन से अज्ञानी को जवाब दिया जा रहा है ना समझाया जा रहा है इसलिए कहते अनादि माया सुप्त अयं जीव यदा प्रबुद्ध अनार्य माया से सुप्त यह जीव जब प्रबुद्ध हो जाता है तब क्या होगा तदा अजम ऐसा से मेरे निर्णय कर लेगा मेरा जन्म ही नहीं हुआ ना अनादि बोलना ना अंत बोलना क्या प्रश्न ही उठता है मैं आज हूँ अतएव अनिद्रम इसलिए तत्व ग्रह प्रसंग नहीं जब तत्व ग्रहण नहीं अस्वप्नम अन्य ग्रहण भी नहीं क्या हो अद्वैतम बुद्ध तब मैं अपना अद्वैत स्वरूप को वो जीव जान लेता है यो यम संसारी जीव स उभय लक्षण तत्व प्रतिबोध रूपेणा बीजात्मना अन्यता ग्रहण लक्षण अन्नादिकाल काल प्रवृत्ति माया लक्षण सुप्रेरा सुप्तो भवती जो ये संसारी जीव है वह दोनों ही प्रकार का दोष से ग्रस्त कौन सा पहला तत्व अप्रतिबोध रूप अप्रतिबोध रूपा बीजात्मना तत्व का अप्रतिबोध रूप बीज है निद्रा उसी युक्त है और अन्य ग्रहण रूपा जो अनादिकाल से प्रवृत्त माया रूपा स्वप्न में जो ग्रहण है उससे भी ग्रस्त है उसी को अभिनय करके दिखा रहे हैं ममा यम पिता पुत्रो अयम नक्ता क्षेत्र पशव इत्यादि मेरा यह पिता है मेरा यह पुत्र है ये मेरा नाते पोते हैं ये मेरा जो है क्षेत्र खेती है ये मेरी पशु है हम मेषा स्वामी हम इन सब के स्वामी है मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ शहीद हो हम नाश को प्राप्त हो रहा हूँ क्षीण हो रहा हूँ न वर्धित अने और अमुक के मैं वृद्धि को प्राप्त कर रहा हूँ इतम मृगाणाम स्वप्न द्वय विपश्यन इस प्रकार के स्वप्नों को विश्व और तेजस्व स्थान द्वय में भी अनुभव करते हुए सुप्तो यदा वेदांत तत्व अभिज्ञ परम कारण की गुरुणान एवं नासी एवं तम कहते कि देखो जब ऐसा सूत्र सुप्त रहता है उस समय मान लो कोई वेदांत तत्व अभिज्ञ पुरुष है वेगा वेदांत तत्वों के अर्थ को तत्वतः जानने वाला जो कोई पुरुष है वह परम कर्ण पुरुष गुरु के द्वारा प्रबोधन किया गया अरे भाई तुम ऐसे नहीं हो नासी एवं तम हेतु फलात्मक हो कार्य कारण भाव रूपा तत्व नित्याग्रहण से विशिष्ट तुम एक परिच्छिन्न जीव नहीं हो किंतु तत्म असी इति प्रतिबोध्यमानो यदा जब वह गुरु ने इस प्रकार से बोध करा दिया जिसे तुम जो है निर्गुण निराकार विशुद्ध परमात्मा करके परिकल्पना कर रहे हो स्वर्ग आदि में बैठा हुआ है रहता है मानते हो अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है वही वास्तव में तुम हो ऐसे जब रह जाएंगे एकदम शौक लगेगा अरे वही मैं हूँ ये कैसा होगा ऐसा नहीं होगा ये बोलेगा ये हो नहीं सकता जो सर्वव्यापक परमिता परमात्मा विशुद्ध ब्रह्म वो मैं कैसे हो सकता हूँ हमने तो सुना है कोई सर्वज्ञ होता है मेरे का भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है मैं सर्वज्ञ हूँ नहीं तो कैसे मैं मानूंगा मैं वही हूँ है या नहीं हमने ये सुना सर्वशक्तिमान हम तो यहाँ का अशक्तिमान कोई शक्ति नहीं अशक्तिमान सीमेंट मिलता है और कुछ तो है नहीं यहाँ तो हम कैसे माने अपने आप को कुछ है हम वही है आगे कहने से कैसे होगा तो है? नहीं जगाने के लिए करना तो पड़ता है अब अयोग्य है आजकल क्या हो गया यही तो हो रहा है कौन योग्यता को देख रहा है हमने कौन सी योग्यता का परखा आप लोगों का अगर पढ़ाई जा रहा है अगर आप बाकी दुनिया को तो छोड़ दो है हम्म। तो जानते हुए तो कर रहे हैं और कौन करेगा क्यों हम्म। कौन करा सकता है लेकिन एक क्षण के लिए अज्ञानी जड़ बुद्ध बुद्धि वाला अपने वासना संस्कार कर शंका तो करेगा ही या नहीं जैसे पहले आचार्य से दर्शन तुलसी का दृष्टान कितना विस्तृत रूप से विवेचन किया तो पहले वो कहेगा दशमो न मारा दसवा मरा नहीं कब खुश हो जाएंगे हाँ दसवा मरा नहीं हाँ दसवा मरा नहीं फिर कहा है वो अरे है यही है यहाँ कहा है ढूंढेंगे वो अरे तुम्हें तो हो मैं मैं कहा दसवा हूँ मैं तो दसवा हो नहीं सकता मैं तो गिन रहा हूँ देख रहा हूँ अरे देख क्या रहे हो क्या अभी देख दो फिर उसको कराना पड़ेगा प्रतीक कहते कराना पड़ेगा तुम्हें देख रहे हो वो मानेगा ही नहीं क्यों उसके अकल तो का ग्रहण में अभ्यस्त हो चुका है नौ ही गिन रहा बार बार सभी ने नौ गिना अपने आप को किसी ने नहीं गिना है वहाँ सभी के दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है नौ ही है दसवा नहीं और सभी बात यही कहेंगे नहीं नौ ही है ये तो यहाँ दुनिया करे सारी दुनिया एक ही बात कह रहे हम अलग ईश्वर अलग क्या करोगे इनकी बहुसंख्या है वोट पड़ेगा तो इनकी जीत है लेकिन तत्वता अनुभूति कराना पड़ता है उसकी जिज्ञासा को तो दूर करना ही पड़ेगा तो उसके लिए फिर वो धीरे धीरे उसको समझाने के लिए कटरण ग्रंथ बनाया गया दुनिया और ग्रंथ है उसको धीरे समझाया ग्रंथों में समझाया जाएगा अनुभव धीरे धीरे कराया जाता है इन पहली बार तो कहना ही पड़ता है ना जैसे विवेकानंद को राष्ट्र परमश के पास जब गया नरेंद्र तो यही कहा आपने भगवान को देखा है हाँ देखा है दिखा सकते हो हाँ दिखा दूंगा आती अरे आती बैठो आप जब योग्य था तो जिसने तुरंत करा दिया नहीं तो क्या कराते उससे थोड़ी करे अभी बैठ जा तो तो कहते अभी थोड़ा मंजरा बाकी है अभी तेरे बर्तन जूठा है जूठे बर्तन को शुद्ध करना पड़ेगा उधर विम बार लानी पड़ेगी सफाई करना पड़ेगा ना तो तुम्हारी सफाई के लिए अभी जो है थोड़ा श्रवण करो उसको बहिरंग अंतरंग साधनों को वर्णन करना पड़ेगा और फिर कहना पड़ेगा इन साधनों को अपनाओ फिर पता चलेगा हमारे गुरु जी जब पहुंचे थे इधर दास शिवानंद जी महाराज के पास उन्होंने यही कहा कह कि रगड़ो खो कर्मयोग करो निष्काम कर्मयोग करो उसे तेरा कल्याण हो जाएगा लगे रे लगे रे लगे रे बारह साल पूरा हो गया दिन रात एक करके सेवा किया हर पद पे हर कार्य किया आश्रम के अंदर उसके बाद उनको जब शिवाजी महाराज बना के कहे कि भाई आपको हम अध्यक्ष बनाना चाहते हैं संस्था का ये महाराज अनुभव हुआ नहीं है हम स्वयं अनुभवहीन है हम क्या अध्यक्ष बन दुनिया को गुरु बनेंगे तो शिवाजी महाराज कहते अरे तेरी मैं ना अब साफ हो गया है लेकिन ये हाथ तेरा काम नहीं होने वाला अनुभव ही करना चाहते हो तो गेट आउट कह दिया जैसा आश्रम छोड़ो जाओ आश्रम के अंदर रह करके कोठारी भंडारी पुजारी बन करके ब्रह्म ज्ञान अनुभूति होगा तेरे को है भाग्यो उसी समय सब छोड़ा कुछ भी नहीं लिया जैसे पहने तो वैसे कैसे दो अछले में चल पड़े गुरु आदेश गेट आउट अनुभव करना है तो जाओ बाहर अनुभव हो जाएगा तैयार हो इसके लायक अभी हो चुके हो जाओ आप चलते चलते चलते चलते भुवन महाराज पर कई से मिलते मिलते वो गंगोत्री पहुंच गए एकदम कर बाल किनारे जगह बैठे बैठते बराबर सारा काम कहते केवल वहां गए स्नान किए चाह करके पत्थर के ऊपर ठंड लगी उन्हें और ठंड लगने जाके बैठ गए धूप में जहाँ बैठे आंख बंद किया बस शाम काम पूरा हो गया ऐसी गुरु की कृपा है अब की अविवेकान को तुरंत करा दिया अनुभव थोड़ा सा फिर कह गया चाबी मेरे पास है हाँ, क्या फायदा ठीक नहीं अब से परम जी विवेकानंद की चाबी अपने पास में रख ली है बेचारा अभी तक मुक्त नहीं हो पाई थी है ना दो सौ साल बाद कुछ पता है ना कि दो बार आएंगे सुना है हमने ऐसे लिखा है कहीं हाँ दोनों आएंगे गुरु चेड़े दोनों आएंगे क्यों इसने बताया ये जितना ये शैतान है ना ये राम मिशन के इन शैतानों को निपटाने के लिए आएंगे हम तो खरा तो कर दिए हैं और ये सब जो धर्म के नाम अधर्म करेंगे तो फिर वो दोनों आएंगे अवतार लेंगे और फिर दोनों आ करके सब मिटाया करके फिर वास्तविक स्थापना करके फिर अपना जयराम जी दोनों के दोनों वो अभी एक दिन बाकी फंसे ना दोनों गुरु चले फिर जन्म लेना पड़ेगा चाबी क्यों रखा अरे चाबी छोड़ देते उसी के हाथ में तो, तो दोनों मुक्त हो गए होते लेकिन इच्छा भी मैं अपने पास रख रहा हूँ तो अभी काम कर जा दुनिया में बाकी तुमसे काम कराना है अब यहाँ शिवानंद जी ने नहीं किया शिवानंद जी तेरे आप चावी तो जा गया और सीधे चाबी दे करके भेज दे चले जाते हो यहाँ वहां गए तो काम उनका हो गया अब दो बार आने की जरूरत है ही नहीं गुरु बोलो चेड़ा तो ये जो विलक्षण प्रक्रिया है उसी को ध्यान रखते हुए कहा जाता है प्रबोधन तो करने में कोई आपत्ति नहीं तो जिज्ञासा होगा ही नहीं उसको तो जड़ बुद्धि वाला द्वैत में पड़ा हुआ बोलना तो पड़ेगा उससे नहीं तो आंखें खुलेगी नहीं जागरण जागृत बरान नहीं बोलेगा तो कैसे होगा उत्तिष्ठ तो जगाना तो पड़ेगा पहले उठो बोल रहे उठो बोलना मेरे उठो मेरे यही है तुम वही हो भाई अपने आप को अल्पज्ञ अज्ञानी असमर्थ अशक्तिमान ये क्यों मान रहे हो तुम वही हो उठाओ जानो उसको इसको जगाना बोलते वही यहाँ पर बता रहे हैं किंतु तत्म अतिथि प्रबोध्यमान यदा तदैव प्रतिबुद्धते तदा एवं प्रतिबुद्धते तब ऐसा अनुभव कर लेता है जान लेता है समझ लेता है कदम किस प्रकार जान लेता है वो नस्मिन बाह्यम आभ्यंतर वा भाव विकारो अस्ती मैं अपने स्वरूप आत्मा में बाह्य अभ्यंतर जन्मारे भाव विकार जो कुछ भी अनुभव करता रहा अब तक उनमें से कोई भी विकार वास्तव में नहीं है अब तो अजम इसलिए मैं अज हूँ ऐसे कैसे जान लेगा श्रुति दिया सबाह्य अभ्यंतर ही अज श्रोदय है श्रुति सर्वभाविकार वर्जितम कहने का तात्पर्य सकल भाव विकारों से वो रहित अच्छा इतना ही नहीं यस्मात जन्मादि कारणभूतम नास्मिन अविद्या तो बीजम निद्रा निद्रम क्यों ऐसे जन्मारी भाविकार क्यों नहीं है क्योंकि जन्मारी भाविकारों का कारण क्या है, है? हाँ? वो नहीं है यहाँ पहले यस्मात जन्मादि कारणबोधम अविद्यात्म बोधम अस्मिन न विद्यते नास्मिन विद्यते क्या अविद्यातो बीजम निद्रा अविद्यात्मक जो तम है तम रूपा जो बीज है तत्व प्रतिबोध रूपा निद्रा शब्द जिसको कहा गया था वो यहाँ <clears throat> नहीं है इति अनिद्रम इसे वो अनिद्र अनिद्रम तत्म अतएव अशब्दम जिसलिए वह तुरी अनित्र है इसलिए वह अस्वप्न है विश्व जैसे विरहित हो गया तन निमित्त क्योंकि निद्रा ही निमित्त है वह स्वप्न की वृद्धि तन निमित्त अन्नता ग्रहण से तत्व ग्रहण निमित्त ही अन्नता ग्रहण होता है यस्माच अनित्रम अस्वप्नम तस्माद अजम द्वैतम त्रिम आत्मा थे तदा जिसलिए वह अनिद्र और स्वप्न है इसलिए वह अज और अद्वैत है वह तुरीय है वह आत्मा ऐसा वो उसी समय जान लेता है जान लिया लेकिन जानने पे पूर्व में जो थी उसके और आपने क्या माना अनादिकाल से मेरे अंदर विद्या आई हुई है माया आई हुई थी माया के कारण से मैं अनादिकाल से जीव बना हुआ हूँ इत्यादि इत्यादि आप मान रहे थे उसको आप भंजन करते हैं प्रपंचो यदि विद्येता निवर्ते न संशय माया मात्र इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थत कह देगी देखो जो तुरी है अद्वैत आपने कह दिया और ठीक नहीं आपने कहा ना अद्वैतम बुद्धि दे दादा कैसे अद्वैतम बुद्ध थे अरे प्रपंच है ठीक है जीव और ईश्वर एक है आपने कैसे मान भी लिया चलो जाने दो कुछ हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते क्यों नाम हमने जीव जीव को तो ईश्वर को तो देखा है नहीं ईश्वर को किसने नहीं देखा है इसलिए हमने जीव को ईश्वर के बराबर कर दिया है जीव को ईश्वर करे ईश्वर को जीव कह दो कुछ भी कर लो खिचड़ी पकाओ हम मान लेते लेकिन फिर भी अद्वैत नहीं हो सकता अद्वैत जाएगा क्यों एक प्रपंच है एक जीव है वो जीव ईश्वर है कोई बात नहीं लेकिन प्रपंच तो अलग है ना या नहीं जीव ने जन्म नहीं लिया जीव मरा नहीं जीव में कोई भाव विकार नहीं जीव ही ईश्वर है कोई बात नहीं लेकिन जीव ही ईश्वर भले ही हो जाए या जीव और ईश्वर उभय से या एकात्म गुण दोनों से भिन्न प्रपंच नाम का वस्तु है अतः द्वैतम विद्यते सदा ऐसा होना चाहिए अद्वैतम बुद्धते तदा नहीं द्वैतम विद्यते सदा ऐसा हो <laughs> कहता है तब कार्य का कारक को कार्य का बनानी पड़ी अरे द्वैतम विद्यते सदा नहीं है अद्वैतम बुद्धते तथा ही ठीक है कैसा ठीक है ये क्योंकि प्रपंचो यदि विद्येता यदि प्रपंच नाम वस्तु दूसरा कोटि के रूप में विद्यमान होता तो निवर्तित न संशय उसको हम निवृत्त भी कर लेते हाँ ठीक है विराट विराट शरीर है और है नहीं अलग प्रपंच इसे तत्व कहने तो हो ही गया वृष्टि का जो शरीर है और समस्या का शरीर है इन दोनों का अभिन्न कर दिया और कह रहे शरीरों के वजह से जो भाव है जन्मारी का व्यवहार वो जब सत्य नहीं है वो सारा घर क्यों हुआ उस तुरीय में ये सारा चीज को हमने ग्रहण किया है ये बात लेकिन उसको पकड़ना ही है ना हम त्रैतवादी बन के चलते हैं जीव जगत ईश्वर तो जीव और ईश्वर को आपने एक कर दिया तो प्रपंच तो अलग रह गया ऐसी शंका करने वाला करेगा ना ये तो है ना प्रबोधन कर दिया तुम तो वही हो और समझेगा तो ही नहीं कितने लोग जान चुके हैं तो तुम उसे कितने बार सुन चुके हैं वो थोड़ी हो जाता है नहीं हो सकता है और तत्का जो है उपाधियों को परित्याग करके स्वयं के उपाधियों को भी परित्याग करके दोनों की एक लक्षित है और उपाधि के अंतर्गत प्रपंच भी है अरे जो उपाधि को त्याग करके लक्ष्यार्थ मिथ्या हो ही गया अलग उसका अस्तित्व कहा रह गया इन पूर्व पक्षी जो ऐसे लोग हैं जो त्रैतवादी हैं तीनों सत्य मानते हैं जीव जगत ईश्वर तीनों ही सत्य है ये मानने वाले लोग किसी को लेकर के विचार कर देखो टीका में कहा भी है प्रियम मध्यम तदायुक्तम प्रपंच सुधारित्याशंज्ञा या नहीं प्रपंच निवृत्तिया चेक प्रतिबुद्ध दे इसलिए प्रपंच को निवृत्त करना पड़ेगा अलग से अलग से प्रपंच को निवृत्त करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा तब तो तुम्हें समझ में आएगी ऐसा पूर्व पक्ष जब कहता है तब उसका जवाब दे रहे यदि होता तो हम निवृत्त कर भी लेते है ही नहीं तो क्या निवृत्त करो उसको है क्या यदि अलग होता तो उसको निवृत्त करने के लिए हम प्रयास जरूर करते यदि जो इदम शब्द के द्वारा जान रहा हूँ वही हर रजत है ऐसा आपको बोध हुआ और जब जो नहीं नहीं जो इदम शब्द होती है वो शुक्ति है ऐसे में करा दूंगा क्या रजत को निराकरण करना अलग से जरूरी है यदि अलग से रजत होता उसको निवृत्त करके मेरे को कहना पड़ता यदिदम तदेव शुक्ति ऐसे अब ईश्वर है मैं और मेरा ये दुनिया अब दुनिया को इनकार करके फिर उसके बाद में मैं को ईश्वर के साथ अभेद करना जरूरी है क्या इतने ही कहने से तुम ही वो ईश्वर का नहीं तुम्हारी दुनिया अपने आप गई अलग से उसको इनकार करने का जरूरत नहीं है निराकरण करने कोई अपेक्षा नहीं क्योंकि वो जो ग्रहण आपने किया है वो अन्य ग्रहण सर्पवत है वो है ही नहीं जो है ही नहीं उसको क्या निराकरण करूँ मैं हो तो निराकरण करे और है ही नहीं जो उसका क्या निराकरण करोगे ये बात समझा रहे कि वो पूर्व पक्षी उस प्रपंच को ईश्वर और जगत से अत्यंत भिन्न मान करके संज्ञा कर रहा है और आपको समझाना पड़ेगा वो अत्यंत भिन्न अस्तित्व वाला नहीं होने से हम इन दोनों के अत्यत करने मात्र से हो गया इसी को समझा रहा है का वही कहे यदि प्रपंचो विद्येता तत्व और तम वास्तविक स्वरूप से भिन्न प्रपंच विद्यमान होता निवर्तित न संशय तब तो उसको निवृत्त हम जरूर कर लेते इसमें कोई संशय नहीं किंतु तो है क्या वो माया मात्र द्वैतम द्वैतम ये जो द्वैत है सर्वत माया मात्र है अतः निवृत्त करने कोई जरूरत नहीं है सिर्फ पारमार्थिक क्या है अद्वैतम परमार्थत अद्वैत ही परमार्थत है ये सिद्ध होगा उच्चत भाष्यकार देखो अवतरण का दिए है प्रपंच निवृत्त चित प्रतिबुद्धते अनिवृत्ते प्रपंच कथम अद्वैतम यदि प्रपंच निवृत्ति पूर्वक ही अद्वैत अनुभूति होता है जैसा कहोगे फिर तो बिना प्रपंच निवृत्त की अद्वैत कैसे हो जाएगा हो नहीं सकता दे तो जवाब दिया भाई ऐसे मत सोचो सत्यम एवं सत प्रपंच ऐसा जरूर होता यदि प्रपंच वास्तव में रहता तो सर्व कल्पित न तो दे रज्जु में जिस प्रकार सर्व कल्पित है इसी प्रकार यहाँ पर भी समझो इसलिए वह द्वैत वास्तविक ही नहीं है रज्जु कब पैदा हुआ कब पैदा हुआ हम जन्म कुंडिया बनाते के तो कई बार मैं सोचता भी हूँ ये कब पैदा हुआ पता नहीं मैं बना तो रहा हूँ जो डेट दिया जो टाइम दिया है नाम दिया उसके हिसाब से हम जाओ की कंप्यूटर में बना लेते हैं इन कभी कभी मन विचार आ जाता है बना तो रहा हूँ इन यह वाक्य में इसका जन्म हुआ भी है यदि ये सर्पवत है सर्व को कोई माँ नहीं सर्व को कोई बाप नहीं सर्व कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं कोई डेट ऑफ डेथ नहीं क्या गणित करोगे उसका सर्व कहाँ से आया हुआ कौन सी दिन में था उसका घर कहाँ था और यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ भी हम ढूंढ रहे हैं नहीं देते तो पूछते हैं तुम्हारा प्लेस ऑफ बर्थ क्या है भाई नहीं तो हम कैसे कुंडली बनाएंगे जगह का नाम तो चाहिए लेट्यूट लॉन्गिट्यूड देखना है हवा सर्व का प्लेस ऑफ बर्थ भी नहीं कैसे कटेगा काम और कह रहे सारा जगत सर्ववत है और कुंडिया बने जा रहे हैं ये कहना बड़े कुंडिया भी वैसे ही बन रहे जैसे सर्प जैसा मिथ्या सर्प है तो मिथ्या कौन ली है क्या आपत्ति है वो तो मिथ्या कंप्यूटर में बन रहा है बनाने वाला भी मिथ्या ही तो है वो कौन सी सत्य है सर्वम वेतन जो मिथ्या है तो सारी मिथ्या ही है तो चल रहा है लीला करो तमाशा देखो किए जाओ तो सब दृश्य आनंद लो दृश्य हमारी जनता तो में वो अज्ञानी के लिए कहना पड़ता है अद्वैतम परमार्थ था व्यवहारिक सत्यता प्राकृतिक सत्यता प्रातिभा सत्यता ये सब अज्ञानियों के लिए व्यवस्था है अच्छा भाई तो मजबूरी है और अज्ञानी मानने को तैयार है नहीं है नहीं बोल रहे जरूरत तो नहीं मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ ऐसे कैसे हो सकता है तब तो ठीक है फिर व्यावहारिक सत्य मान लो बात छोड़ो पिंड छोड़ो अब वो उस ब्राह्मी स्थिति में रहने की क्षमता ही नहीं रखता है और ये सारे दृश्य रूप में लीला रूप में मिथ्या दर्शन हो रहा है इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं उस साक्ष्य भाव में स्थित होकर दृश्य रूप में अनुभव करने की क्षमता जिसको नहीं है उसको कहना पड़ेगा क्या सत्य है भाई फिर चलो क्या करें जब तक तो स्थिति में नहीं आएगा उसको ये कहेंगे वह अगर सत्ता जी तुम बाधा सामर्थ्य से व्यवहार कर रहे हो कहना पड़ेगा भी व्यवहार भी नहीं है न बाधा सामर्थ्य न बाधा कुछ भी नहीं है अज्ञानियों की भी व्यवस्था है यावत स्थिति नहीं होती है ब्राह्म स्थिति स्वस्थो हर पातु वह जो का है स्वात्मा राम स्वस्थो हर पातु जो स्व में स्थित जब तक होता है तब तक ये सारी स्थितियां बनती है तभी तक के लिए सारी व्यवस्था है शास्त्रीय व्यवस्था है न तो विद्यते विद्यमान निवर्ते यदि विद्यमान होता तो निश्चित निवर्तन कर ही लेते हम इसमें कोई संशय नहीं नहीं रज्जुआम भ्रांति बुद्धिया कल्पित सब विद्यमान सन विवेक दो निवृत्ता क्योंकि रज्जु में भ्रांति बुद्धि से कल्पित सर्व को विद्यमान है ऐसा कहते हुए अविवेक से उसको निवृत्त करना चाहे तो ऐसा निवृत्त नहीं हो सकता नहीं वह माया माया बिना प्रयुक्ता तब दर्शिनाम चक्षुर में विद्यमान सती निवृत्ता भवती जैसे देखो मायावी ने अपने माया का प्रयोग किया और उसके दर्शियों के चक्षु को बंधन कर दिया और चक्षु बंधन का जो है अपगम जब करेगा वो अलग से क्या माया को भी निवृत्त करने की प्रयास करना पड़ेगा उसे तो खत्म हो तो उसी समय खत्म हो जाए जहाँ उसने संकल्प किया आप लोगों को मैं दिखाई दू बात खत्म हो गई आपके चक्षु बंध का अपगम किया उसने उसी क्षण माया भी निवृत्त हो गई इसे कहते चक्षुर्बंध अपगमे विद्यमान सदी निवृत्ता यदि विद्यमान होती तो निवृत्त होता कर लेते हम उस माया को तथा इदम प्रपंचाख्यम माया मात्र द्वैतम ठीक उसी प्रकार से यह प्रपंच भी क्या है माया मात्र द्वैत ही है रज्जुवत माया भी वत वहां जैसे रज्जु पारमार्थिक है दृष्टांत में माया भी पारमार्थिक है और दूसरे दृष्टांत में रज्जु पारमार्थिक है माया विवत रज्जुवत दो दृष्टांत दिया अद्वैतम रज्जू तो वही है कभी सर्प कभी डंडा कभी भूचित्र इत्यादि विकल्पित हो रहा है माया भी अकेला वही है कभी तो कबूतर बन जा रहा है वो नहीं कबूतर बन के दिखा देता है कभी कुछ बन जाता है कभी कुछ बन जाता है विकल्पित हो रहा है एक कार्य यहाँ भी अद्वैतम एवं परमार्थता तस्मा न कच्चित प्रपंच प्रवृत्तो निवृत्त हुआ स्थिति अभिप्राय इसलिए कोई प्रपंच नाम का वस्तु न प्रवृत्त हुआ है इसलिए उसको निवृत्त करने की आवश्यकता नहीं है ये इसका अभिप्राय है वास्तविक वेदांत अजातवाद में आ गए सत्य उठ रहा है निवृत्ति के लिए पृथक प्रयास करना जरूरी है और उसके बिना प्रपंच निवृत्त होगा नहीं तो अद्वैत आप सिद्ध तो नहीं हो सकते ये कह रहे हैं ना पूर्व पक्षी तो ये अभिप्राय रख रहा है प्रपंच अलग है वो विद्यमान चीज है उसको निवृत्त करने के लिए आपको प्रयास करनी पड़ेगी उसके बिना अद्वैत सिद्ध नहीं होगा ये पूर्व पक्षी का आशय था क्या आप यहाँ पर रज्जू से का जानने के अलावा वो बाद में सर्प रहेगा और उसको निवृत्त करने के लिए प्रयास करते हो क्या क्या करते हो सर्प को हटाने के लिए झंडा लेके भगाते हो गया अरे प्रकाश ला के तुमने सर्प को हटाया थोड़ी रज्जू को जानने के बाद प्रकाश लाना पड़ा अरे रज्जू जानने के बाद की बात हो रही है यहाँ रज्जू को जानने के बाद में सर्प अलग रहेगा और उसको निवृत्त करने की प्रयास करोगे तुम यहाँ तक तुम जान लिया उसके बाद बदन जो है बोल रहा है पक्षी इसलिए उसको निवृत्त करने के लिए प्रयास करो तो उसके लिए जवाब दिया जा रहा है कि भाई तत्व जानने के बाद में प्रपंच अलग रहेगा ही नहीं तो निवृत्त क्या करूंगा यदि आपने इधम को शुक्ति करके जान लिया तो रजत अलग कहा रहा अयम को शुक्ति आपने रज्जू करके जान लिया तो फिर सर्प कहा रहा जब रज्जू को जानने के लिए आपको प्रयोग आना पड़ा सर्प हटाने के लिए नहीं प्रकाश में जो पहले आप लाए थे वो रज्जु को जानने के लिए सर्प को हटाने के लिए नहीं सर्प को हटाने के लिए तो आप लाठी ले आते मारते उसको प्रकाश कहीं सर बढ़ता है क्या आप अधिक प्रकाश के द्वारा रज्जु को देखा आपने सर्व को हटाया नहीं सर्व को वास्तव में हटाने का आप कोई प्रयास ही नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि सर्व वास्तव में है ही नहीं तो हटाओगे क्या उसके प्रयास क्या करो ध्यान देवस्था में लाठी लेकर मार भी दोगे वहां पर क्या सर्व मर जाएगा फिर लाठी छूटेगी वहां है ही नहीं सर्व तो कहा से मरेगा वो तो धरती पर तो मारोगे रज्जु पर मारोगे न घुस करेगा न घुस करेगा जब मारोगे तो चुप रहेगा ना वो इसलिए कही यदि होता तब ना तुम्हारा मारना उतना करके निवृत्त करने के प्रसंग आता भ्रांति काल में जब सर्प है तब भी सर्व निवृत्ति के लिए प्रयास करने पर भी सर्व निवृत्त नहीं कर सकते आप कर सकते हैं क्या तब भी आपको सारे प्रयास के दौरान तो पता क्या चलेगा रज्जू है यदि आप लाठी भी ले आए मारे उसको मारे मरिया समझिए समझ करके उसको उठा कर लाठी का साथ उठा करके बाहर जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा मरा सर्व दिखेगा सारा दिखेगा वहां मैंने आप ये सारा प्रयास अंत में क्या हुआ उसे रज्जु ही आपने जाना सर्व का निवृत्त किया ही नहीं इसलिए अधिष्ठान को जानने के सिवाय सर्व को निवृत्त करने के लिए कोई प्रयास ना पहले हुई न बाद में कभी नहीं क्यों तो ऐसा भाई क्या करेंगे उसी प्रकार यहाँ पर भी कह दिया ये जगत तो है नहीं इसमें मैं क्या करूंगा जो भी मैं ज्ञान करूंगा जो भी प्रयास कर रहा हूँ वो प्रयास किस लिए है जगत को निवृत्त करने या नहीं जितना भी इसको निवृत्त करने की चेष्टा करोगे आप उसे बोध क्या होगा ये निवृत्त नहीं होगा अधिष्ठान का ही बोध होगा नेति नेति नेति नेति नेति से क्या बोध होगा ये हटे क्या ये हटेंगे नहीं हमें आत्मा का बोध होता है तो इसका अस्तित्व खत्म हो इसलिए कहते हैं टीवी को देखो चित्र चल रहा है उस समय को एक चित्र नहीं है टीवी ये चित्र भी टीवी नहीं है यह पेड़ टीवी नहीं है ये कुत्ता टीवी नहीं है ये घास टीवी नहीं है ये सड़क टीवी नहीं है ये खिड़की टीवी नहीं है फिर क्या टीवी है चित्र वही का वही है फिर भी आप जब सब चित्रों का इनकार कर लोगे तो देखोगे क्या टीवी दिखेगा यानी वो दृष्टि क्षमता आपके अंदर नहीं हो बात अलग है नहीं तो टीवी चलते वक्त भी आप क्या देखेंगे सामने कुछ है कोई चित्र नहीं दिखेगा कहीं दिखेगा आपको इसे कई बार तो अन्यत्र मनोभुवम आप सड़क पर चल रहे हैं सामने सब हो रहा है आ रहे हैं जा रहे हैं ओम हो रहा है सब कुछ हो रहा है आपको पता ही नहीं आप चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे कहा कहाँ थे आप इसी प्रकार यदि हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए सारा जगत होते हुए भी नहीं है हमारे असल में स्वरूप में निष्ठा नहीं है वह टीवी स्क्रीन में निष्ठा नहीं चित्र में निष्ठा हो गई है फिर हमें चित्र दिखाई दे रहा है स्क्रीन नहीं दिखाई देता निष्ठा हमें विषय में हो गया स्वरूप में है नहीं इसे जगत अब दस्त सत्य रूप में भान हो रहा है जिस क्षण हम हमारी सारी प्रयास के दौरान में हम ये देखेंगे हम अधिष्ठान का भान हो जाता है अधिष्ठान की ज्ञान हो जाए तो अपने आप सारा भान होता अन्य वस्तु निवृत्त हो जाता है इसलिए हमने कर यहाँ पर न ही कच्चित न कच्चित प्रपंच प्रवृत्त निवृत्त हुआ स्थिति विप्राय तो विकल्प विनिवर्तित कल्पितो यदि के नचित उपदेशादय वाद ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इसी कार्य का अंतिम हिस्सा को पहले भाष्यकार ने इसका प्रयोग किया था ज्ञाते द्वैतम न थे प्रपंच की भांति ये जो गुरु शिष्य है यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि भाई यदि कहते हो माया मैत्र मिलन द्वैतम निशान प्रदेश किसके लिए है